सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम् परवा तेजस्विनावति मा उदयास समय च यत् पृथगुत्पद्यमानानाम् मत्वा धीरो न शोचते इन्द्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादपि महानात्मा महतो व्यक्त मुत्तम अव्यक्ता परः पुरुषो व्यापको लिंग एवं यं ज्ञावा मुच्यते जंतु अमृतत्व गच्छते न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्त यो एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति सर्वानानि इंद्रियाणी आत्मा न भवंती अलग अलग उत्पन्न होने वाली इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती मंत्र को छूते हैं बोला जैसे अंगूर अलग पैदा होता है आम अलग पैदा होता है इमली अलग पैदा होती है घोड़ा अलग पैदा होता है भैंस अलग पैदा होती है तो ये परस्पर एक नहीं होते तो ये हैं इंद्रियां हैं अनेक और इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ देखने वाला आत्मा है एक जैसे सामने शीशे के झरोखे लगे हों एक में लाल शीशा एक में पीला शीशा एक में हरा शीशा एक में काला शीशा और उन शीशों के अनुसार बाहर की चीजों के रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हों लेकिन झरोखे के भीतर बैठ करके जो और उन शीशों के अनुसार बाहर की चीजों के रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हों लेकिन झरोखे के भीतर बैठ करके जो झांकने वाला है वो झरोखे के छिद्र अलग अलग होने पर भी उनमें अलग अलग काट होने पर भी देखने वाला अलग अलग नहीं है एक ही देख रहा है ऐसे आख रूप को देखती है कान शब्द को सुनता है त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है नासिका गंध को सूंघती है जिहवा रस लेती है पांव चलता है हाथ पकड़ता है वाक बोलती है सब इंद्रियां अपने काम भी अलग अलग करती हैं अपने विषयों को अलग अलग प्रकाशित भी करती हैं और अलग अलग तन्मात्रा से अलग अलग सात्विक तन्मात्रा से उत्पन्न भी हुई हैं परंतु जो हम शब्दमसृणवम जो हम रूपमद्राक्षम जो हम स्पर्शमन्वभवम जो हम स्वादयम स जिग्रा में जिस मैंने कान से शब्द सुना जिस मैंने त्वचा का से स्पर्श का अनुभव किया जिस मैंने नेत्र से देखा जिस मैंने जेवा से स्वाद लिया वही मैं नाक से अब सूंघ रहा हूँ क्या हुआ कि अलग अलग विषय अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग काल में अनुभव किए गए परंतु ये प्रतिसंधान देखने में आता है कि अनुभव करने वाला आत्मा एक ही है श्रोत्र में पीड़ा चक्षुषी में पीड़ा मेरे कान में दर्द है मेरी आंख में दर्द है मेरी नाक में दर्द है इस प्रकार भी इन इंद्रियों का अलग अलग अनुसंधान होता है परंतु जिसको दर्द का अनुभव होता है वो बिल्कुल एक है तो इंद्रियों की उत्पत्ति का बीज कारण और इंद्रियों की के पृथक पृथक कार्य विषय और इंद्रियों की पृथक पृथक उपस्थिति और एक बात और उदया समय जतो जागृत अवस्था में इंद्रिया कछुए के हाथ मुंह की तरह निकल जाती हैं और स्वापावस्था की प्रतिपत्ति होने पर ये सब के सब लीन हो जाती हैं तो इनके उदय में भी मैं ही और इनके अस्तमय में भी मैं ही इनके भावा भाव का साक्षी मैं तो ये तो <clears throat> बाहर की इंद्रियों की बात हुई अब जब जागृत और स्वप्न की चर्चा आ गई तो जरा इंद्रियों से ऊपर बात बढ़ गई क्योंकि मन का इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों को देखना ये तो जागृत है और मन का सो जाना ये स्वापावस्था है सुषुप्तावस्था है सुषुप्तावस्था के दो भेद हैं एक शिथिल सुषुप्ति और एक गाढ़ सुषुप्ति शिथिल सुषुप्ति स्वप्न है और गाढ़ सुषुप्ति जो है वो सुषुप्ति के सब पद से कही जाते हैं तो मन भी जहाँ सो जाता है वहाँ आत्मा राम जागते रहते हैं है? मनी राम जागते हैं मनी राम सोते हैं और आत्मा राम आत्मा राम जागते रहते हैं तो अब ये सवाल हुआ कि मन के सोने से जितनी चीजें सो जाती हैं और मन के जागने से जितनी चीजें जागती हैं वो मन में संस्कार रूप से ही रहती हैं यदि वे केवल संस्कार रूप से न रहती हों कम से कम उनका प्रतिभान जो है उनकी थी वो तो मन के अधीन है ये बात तो निकली कि जब मन जागता है तब उसके साथ माई बाप बेटा बेटी धन दौलत धनी पना गरीब पना पंडित पना मूर्ख पना तपस्वी पना भोगी पना योगी पना भोगी पना संयोगी पना वियोगी पना कार्य पना कारण पना वियोगी <coughs> परिच्छिन्न पना अपरिच्छिन्न पना ये सारी बातें इनका भाव मन के साथ उदय होता है और मन के अस्त से अस्त हो जाता है भाव इनकी भावना इनकी प्रतीति तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण देश की जो प्रतीति है दीर्घता और विस्तार की ये सब मन के सोने पर सोती है और मन के जागने पर जागती है और जो काल का भूत भविष्य वर्तमान कल क्या हुआ था परसों क्या हुआ था चौथे दिन क्या हुआ था ये सब मन के साथ सो जाते हैं और मन के साथ जागते हैं ये माता ये पिता ये पत्नी ये मजहब है वो तो उपनिषद में वर्णन है ना तत्र माता अमाता भवती तत्र पिता अपिता भवती तत्र देवा अदेवा भवंती तत्र वेदा अवेदा भवंती का वहाँ वेद वेद नहीं रहते देवता देवता नहीं रहते शास्त्र शास्त्र नहीं रहते माता माता नहीं पिता पिता नहीं ये मन की कल्पना का जितना विस्तार है इसको मन अपने साथ ही लेकर जागता है और अपने साथ ही लेकर सोता है एक बात इससे बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम निकलती है दुनिया में देश के कारण काल के कारण व्यक्ति के कारण वस्तु के कारण संबंध के कारण जितने दुख हैं वो सब मन के साथ पैदा होते हैं और मन के साथ लीन हो जाते हैं इसलिए अगर मनी राम को हम जरा ठीक ठाक कर लें तो जीवन के अधिकांश दुख की निवृत्ति हो जाएगी क्योंकि दुख लेकर के मन ही निकलता है और मन ही सोता है मन की मुट्ठी में है ये सारे के सारे दुख तो एक बात तो कम से कम निकलती है अगर मन हमारा ठीक हो जाए तो दुनिया में हमारे लिए जो सुख का आकर्षण है और ये जो जो दुख का विकर्षण है जो दुख हमें भगाता है और सुख खींचता है ये जो हम पानी में पड़े हुए हैं संसार के व्यवहार में हमारी स्थिति क्या है संसार के व्यवहार में हमारी स्थिति है आ, मन के साथ मिल करके खींचातानी अरे ऐसे ही बोलो जो चीज चली जाए उसको बोलो हमारा है ही नहीं था ही नहीं है ना अच्छा जिससे हम ये अपेक्षा रखते हैं ना कि हमसे मीठा बोले है ना हमारे शरीर पर हाथ फेरे हमसे प्रेम करे है ना तो आदमी दुख नहीं देता है ये हमारे मन में जो उसके प्रति चाह है उसके प्रति ममत्व है उसके प्रति संबंध है वही तो दुख देता है ना काट दो हमको चाहिए ही नहीं गायत्री देवी ने विद्यारायण स्वामी से कहा कि अब जो चाहे तो मान लो प्रगट बोली कि देवी मैं तो सन्यासी हो गया है? ब्रह्मलोक पर्यंत के भोग को विष्ठा समान समझकर मैंने छोड़ दिया मैं तो अपने स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ मुझे तुम क्या दे सकती हो दृश्य अनात्मा जिन विषयों का मैंने परित्याग कर दिया सो वही दे सकती हो ना भगवती क्षमा करना जो तुम दे सकती हो वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि जो तुम दे सकती हो वो छीन भी सकती हो और हमारा आत्मा ऐसा है जिसको न तुम दे सकती हो न छीन सकते हो आप देखो ये तो ही मनीराम की बात है लेकिन इसके आगे बुद्धि भी आती है बोला संस्कार युक्त है ना संस्कार युक्त ज्ञान का ही नाम अंतकरण है बोला और उसमें जो संस्कार के अधीन ज्ञान है उसको मन बोलते हैं और जो संस्कार से स्वतंत्र विचार की शक्ति है निर्णय की शक्ति है उसको बुद्धि बोलते हैं जो स्वतंत्र जो संस्कार से अत्यंत प्रभावित न हो मन तो वो होता है जो संस्कार से अत्यंत प्रभावित हो जाता है हिंदू पने के संस्कार से मुसलमान को मारने गए और मुसलमान पने के संस्कार से हिंदू को मारने गए परंतु एक सामान्य बुद्धि है मानवता की उसने कहा कि अरे क्या हिंदू क्या मुसलमान दोनों मनुष्य हैं तो हिंदुत्व के प्रभाव से आक्रांत बुद्धि ने मुसलमान को मारने का निर्णय किया और मुसलमान पने के संस्कार से आक्रांत बुद्धि ने हिंदू को मारने का निर्णय किया है लेकिन जो ज्ञान मुस्लिम पने के अभिमान से और हिंदू पने के अभिमान से अनाक्रांत है वो किसी को मारने का निर्णय नहीं देगा तो बुद्धि दो तरह की हुई एक संस्कार पर और एक संस्कार से स्वतंत्र महाराज तो तत्व निर्णय के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए जिसमें भाई भतीजे पने का मंत्री कैसा चाहिए कि जो भाई भतीजे का पक्ष न करे है ना और अपने दुश्मन से बदला न ले मंत्री ऐसा चाहिए हमारी बुद्धि कैसी चाहिए करो जो जिसके प्रति द्वेष का संस्कार है उसके प्रति हिंसा का निर्णय न करे और जिसके प्रति राग का संस्कार है उसके पक्षपात का निर्णय न करे तो ज्ञान आत्मा है और संस्कार युक्त जो ज्ञान है जैसे मिट्टी आत्मा है और अंगूर के संस्कार से युक्त अंगूर का बीज है, है वो भी मिट्टी फूक दो तो मिट्टी हाँ, जला दो तो मिट्टी आम के बीज से संस्कार युक्त आम का बीज है वैसे ये जो अंतकरण है जिसमें संस्कार की अनादि परंपरा प्रवाहित हो रही है हाँ, इसका संस्कार से आस्कंदित न होना संस्कार होने पर भी संस्कार से अनाक्रांत जो ज्ञान है वो बुद्धि पद वाच्य है और संस्कार से आक्रांत जो ज्ञान है वो मन पद वाच्य है और जो <clears throat> अनुभूत संस्कार से युक्त ज्ञान है वो चित्त वाच्य है वहाँ संस्कार प्रकट नहीं हुआ और जो संस्कार के अनुसार होने वाली क्रिया को मैं कर्ता मानने वाला है वो अहंकार पद पदवाच्य है कौन का ज्ञान ज्ञान के चार नाम हाँ। अनुद्भूत संस्कार से युक्त चित्त हाँ। और उद्भूत संस्कार में संस्कार से अनाक्रांत बुद्धि संस्कार से आक्रांत मन और संस्कारानुसारिणी क्रिया का अभिमानी अहंकार ये चार भेद हैं हमको बारंबार कोई बात कहने में इसलिए भी मजा आता है कि हम 18-19 बरस के थे हमको याद है हमने महाभारत पूरा बांटने का नियम लिया था कि पूरा महाभारत पढ़ जाऊंगा तो जब घर पे रहते तो महाभारत पढ़ते तो शांति पर्व पढ़ रहे उतने में एक ठाकुर साहब आए उन्होंने पूछा कि महाराज मन बुद्धि चित्त अहंकार में क्या भेद है उनको समझाया कि मन बुद्धि चित्त अहंकार में क्या भेद है अंतकरण की जो संकल्पात्मक दशा है उसको मन बोलते हैं संकल्पक अंतकरण का नाम मन है निर्णायक अंतकरण का नाम बुद्धि है, हैं? हाँ। और संस्कारक अंतकरण का नाम चित्त है है ना और अहंक्रियात्मक अंतकरण व्यवस्थात्मक व्यवस्थापक अंतकरण का नाम अहंकार है संकल्पक अंतकरण का नाम मन है निर्णायक अंतकरण का नाम बुद्धि है सब अंतकरण ही और संस्कारों के अनुद्बुद्ध दशा का नाम अनुद्बुद्ध दशा का नाम चित्त है समझाया उनको उनको याद है उसके कोई 20 बरस बाद सन्यासी होने के बाद जब काशी में गया तो वही ठाकुर साहब फिर आए और उन्होंने वही प्रश्न किया कि मन क्या है बुद्धि क्या अंतकरण का अंतकरण में ये जो चार भेद हैं उनका क्या मतलब है कोई प्रश्न किया तो उनको तो भूल गया था कि उन्होंने कभी पूछा था और मैंने बताया था उनको स्मरण नहीं था लेकिन हमको स्मरण था कि 20 वर्ष पहले इन्होंने यही प्रश्न किया था है ना तो जल्दी बात समझ में नहीं आती है क्यों बोले आदमी जो है वो घर गृहस्थी के चक्कर में रोज रोटी दाल के चक्कर में पड़ा रहता है वही बेटा वही बेटी वही बहू वही समस्याएं है ना वही परेशानी रोज रात दिन घर में घेरे रहती है तो वो जो समझते हैं तो भूल जाता है ठीक समझ नहीं पाते इसलिए बात को बिल्कुल ठीक ढंग से समझनी चाहिए अच्छा तो कहो कि भाई सुसुप्ति में मन भले देश की काल की वस्तु की व्यक्ति की संबंध की सुख की दुख की सब कल्पना छोड़ करके सो जाता है लेकिन इससे ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि ये सब है ही नहीं है बोले हाँ ये सिद्ध नहीं हुआ मन से नहीं सिद्ध हुआ इतना सिद्ध हुआ कि जितना भेदक ग्रहण है वो मन की जागृत अवस्था में होता है मन की सुसुप्ति दशा में नहीं होता लेकिन मन की सुसुप्ति दशा को आत्मा देखता है तो एक बात तो ये हुई कि जैसे विषयों का ज्ञान मन के अधीन है वैसे आत्मा का ज्ञान मन के अधीन नहीं है आत्मा तो मन को भी जानता है एक दूसरी बात ये आई कि मन की अपेक्षा आत्मा बड़ी सूक्ष्म वस्तु है जहाँ सुसुप्ति में मन सो जाता है वहाँ सुसुप्ति को साक्षी देखता है आपने कर, आपके जीवन में तीन अवस्था आती है कि नहीं जागृत स्वप्न सुसुप्ति बोले बाबा जागृत और स्वप्न का तो हमको मालूम है लेकिन सुसुप्ति का मालूम नहीं है क्या ऐसी नींद आपको कभी नहीं आती कि जिस समय कुछ न मालूम पड़ा हो कभी ऐसी नींद तो आती है तो किसको मालूम है तो तुमको किसने तुमको बता दिया तुम्हारे पड़ोसी ने तुमको ऐसा बताया कि ऐसी नींद आई थी जब तुम सपना नहीं देख रहे थे तो जब तुम सपना नहीं देख रहे थे ऐसी नींद तुमने खुद देखी है पड़ोसी ने थोड़ी बताई है तो वो वो सुसुप्ति भी साक्षी भाव से है अब देखो इसका अर्थ हुआ कि जागृत स्वप्न और सुसुप्ति से आत्मा अलग है और उनका साक्षी है चेतन है ज्ञान स्वरूप है भेद जितने हैं वे मन की जागृत स्वप्न अवस्था में दिखाई पड़ते हैं सुषुप्ति दशा में नहीं दिखाई पड़ते जितने भेद हैं उतने सब के सब मनसो यमनी भावे द्वैतम नहीं वो थे जब मन अमन हो जाता है तब द्वैत की प्राप्ति द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है? पुंसो युक्त अर्थो भ्रम सगुण दोष भाग कर्मा कर्म विकर्मेति गुण दोष भेदा जब मनुष्य योग युक्त नहीं रहता है अर्थात मन चंचल रहता है तब नाना वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं मन की चंचलता में नाना वस्तु हैं और उसमें कई वस्तुएं सच्ची हैं और फिर इनमें ये गुण है और इनमें ये दोष है लो गुण दोष हो गया और गुण दोष हो गया तो राग द्वेष हो गया और राग द्वेष हो गया तो मारपीट आ गई लड़ाई झगड़ा आ गया पक्षपात आ गया तो ये बात देखने में आई अब ये देखो कि देश के भेद काल के भेद वस्तु के भेद व्यक्ति के भेद संबंध के भेद ये सब तो मन की जागृत दशा में ही होते हैं सुसुप्ति दशा में नहीं और आत्मा इनका साक्षी है तो संपूर्ण भेदों के और भेदों के अभाव का साक्षी है आत्मा तो ये कब बाधित कब होते हैं ऐसे नहीं बाधित होते कि हम साक्षी हैं हम दृष्टा हैं ये बाधित कब होंगे जब तुम महावाक्य के द्वारा आत्मा को ब्रह्म जानोगे ये साक्षी असल में देश की कल्पना का आश्रय हो जैसे सर्प की कल्पना का आश्रय होने के कारण सर्प और सर्प की कल्पना एक ही अंतकरण में है और वो तुम्हारे अंदर भान मात्र है इसी प्रकार देश काल वस्तु की कल्पना एक ही मन जिस मन में देश काल वस्तु की कल्पना है उसी मन में देश काल वस्तु है और तुम हो उसके साक्षी तो देश आश्रय मन और मन के आश्रय तुम काल का आश्रय मन और मन के आश्रय तुम और वस्तु के भेद के आश्रय तो मन और मन मन के आश्रय तुम व्यक्ति और संबंध का आश्रय मन और मन के आश्रय तुम अर्थात तुम्हारे मन में ही भ्रांति से जो वस्तु दिखती है उसका यही लक्षण है कि जिस अंतकरण में भ्रांति होती है उसी अंतकरण में वो वस्तु होती है तो नारायण जिस आत्मा की दृष्टि में संपूर्ण विश्व करके विश्व प्रपंच का भावाभाव प्रतीत हो रहा है वो आत्मा छोटा मोटा नहीं वो साक्षात ब्रह्म है अद्वितीय है उसमें अंतकरण न एक है न अनेक है न उसमें मन है न मन के दृश्य है मनोदृश्य मिलम द्वैतम जब किंचित प्रचराचरम श्री रमन महर्षि बोलते हैं कि शब्दादि रूपम भुवनम समस्ताम ये चौदहों भुवन तीनों लोक अनंत कोटि ब्रह्मांड ये क्या है बोले शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक है शब्दादि रूपम भुवनम समस्ताम शब्दादि सत्येन्द्रिय वृत्ति भाष्या लेकिन शब्द स्पर्श आदि है ये बात तो इंद्रियों की वृत्ति से मालूम पड़ती है और सत्वेन्द्रियाणाम मनसो बसे हाँ। और इंद्रियां हैं ये बात मन में मालूम पड़ती है मनोमयम तत् भुवनम महा इसलिए हमारा कहना ये है कि ये जो प्रपंच दिखाई पड़ता है ये बिल्कुल मनोमय है जिसको देश मालूम पड़ता है वो देश से बड़ा है जिसको काल मालूम पड़ता माने अनंत है परिपूर्ण है व्यापक है और जिसको काल मालूम पड़ता है वो काल से बड़ा है अर्थात अविनाशी है जिसको वस्तु मालूम पड़ती है वो कार्य कारणात्मक वस्तु से बड़ी सत्ता है नारायण तो भूत भविष्य भूत भविष्य वर्तमान वर्तमानात्मक काल से बड़ा होने के कारण अविनाशी अनंत और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि जो दिक कला है इससे इसकी कल्पना का आश्रय इसका आश्रय होने के कारण परिपूर्ण अनंत और जितना भेद भासता है भिन्न भिन्न जो वस्तुएं भासती हैं उन संपूर्ण वस्तुओं के व्यस्ति समष्टि की कल्पना का आश्रय होने के कारण एक अनंत अखंड अद्वय सत्ता और अपना स्वरूप होने के कारण क्योंकि अपने स्वरूप के सिवाय तो है नहीं है अद्वितीय ब्रह्म सत्ता ये अपना आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म सत्ता है ये वेदांत समझाता है तो पृथक उत्पद्य नाम मत्वा धीरो न सोचते मत्वा न सोचते मत्वा मैंने ज्ञातवा इसको अगर तुम जान ले हो तो तुमको शोक नहीं होगा बिल्कुल तो इसको दो तरह से लगाओ धीरा अधिकारी मत्वा न सोचती और मत्वा धीरो भवती तथो न सोचती धीर जो है वो इसका अधिकारी है धीर के माने ये हैं कि दुनिया में जो कुछ होता जाता है ना उसको जरा सहते चलो इतने असहिष्णु मत बनो कि हम्म। बोले तेज हवा आज क्यों चल रही है ईश्वर को गाली देना शुरू कर दो तो ईश्वर को गाली देने में जब लग जाओगे तो ईश्वर तब तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा बोले आज वर्षा क्यों हुई आज वर्षा क्यों नहीं हुई आज हवा इतनी तेज क्यों चली का आज क्यों नहीं चली हवा रोज ईश्वर से जब जवाब ही तलब करते रहोगे हर काम में कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया तुमने ऐसा क्यों नहीं किया तुमने ऐसा क्यों नहीं किया ऐसा क्यों किया अगर ईश्वर से मतभेद करके रहोगे तो तुम्हें ईश्वर अपना रहस्य नहीं बतावेगा ये देखो एक बात हम बता देते हैं अगर हमारा तुम्हारा मतभेद है तो हम कोई न कोई बात तुमसे गुप्त रख लेंगे ईश्वर से मत भेद रखते हो तो ईश्वर तुम्हारे सामने काहे को अपने को जाहिर करे ये ईश्वर से मतभेद रखना माने है ना ईश्वर जो करे हाँ, स्वदेव जदेव कुरुते सदैव मंगल आयो ईश्वर जो कर रहा है उसमें हमारा मंगल है उसमें हमारा हमारा कल्याण है उसमें उसमें हमारा मंगल है हाँ, कुटिया पर गाय आ गई तो बहुत बढ़िया दूध देगी है तो कोई चुरा ले गया है बोले गोबर उठाने से जी बचा है ना गोबर उठाने से जी बचा तो सदैव <clears throat> यदेव कुरुते तदेव आया मतलब इसका ये है कि बाह्य जो परिस्थितियां हैं घटनाएं हैं है? उनसे यदि तुम क्षण क्षण पर प्रभावित होते रहोगे और उन्हीं के स्वागत में माला पहनाने में लगे रहोगे या उन्हीं का विरोध करने में लगे रहोगे तो तुम्हें ईश्वर के बारे में सोचने का अवसर ही कम मिलेगा श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे बर्दाश्त करना सबसे मैंने पूछा था स्वयं पूछा था कि ये सिद्धि क्या है महाराज आपके बारे में लोग बताते हैं कि आपके अंदर बड़ी बड़ी सिद्धियां आए हैं तो बोलते बर्दाश्त करना सिद्धि है सहिष्णुता ही सिद्धि है है ना एक गाली दिया और छह महीने की तपस्या गई ये तपस्या आई थी हल्की फुल्की चीज है है ना एक बार गुस्सा आया और छह महीने के भजन से बना हुआ जो शरीर में रस है मन का निर्माण करने वाला जिससे मन में मिठास आती है मधुरता आती है हाँ, आनंद आता है एक बार क्रोध आया और क्रोध की वो तो मन में ही तो क्रोध आता है ना और क्रोध आ गए क्रोध की आग में भजन का रस भस्म हो गया हाँ। तो उन्होंने इसका उदाहरण देकर बताया कि देखो तुम भूख सहने की आदत डालो उनके पास अन्य की सिद्धि की ऐसा लोगों में प्रसिद्ध था तो वो बोले कि तुम किसी भी अनजान से अनजान गांव में चले जाओ और तुम्हारे अंदर भूख सहने की शक्ति हो भूख केवल भूख पेड़ के नीचे बैठ जाओ है ना या मंदिर पर बैठ जाओ लेकिन भूख सहो मांगो मत किसी से अन्न मत मांगो रोटी मत मांगो एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन फिर देखना उसी गांव के लोग तुम्हारे लिए जिंदगी भर को भोजन का बंदोबस्त कर देंगे कि बाबा जी यहाँ रहो और तुमको रोटी मिलती जाएगी और यदि तुम किसी के घर रोटी मांगने गए और दाल ठीक नहीं आई साग ठीक नहीं आया आई और चार गाली सुना दी तो गांव वाले क्या कहेंगे अरे बाबा जी बड़ा गुस्सा वाला है भाई इससे जितना जल्दी पिंड छूटे उतने ही अच्छा ही चला जाए यहाँ पे सहिष्णुता में सिद्धि है बर्दाश्त करने में सिद्धि है उफलने में उबलने में सिद्धि नहीं है ये जो तुम समझते हो कि हम लड़ाई करके अपना मत सिद्ध कर लेंगे अपना स्वार्थ जिसको बात करके वाद विवाद करके हम अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेंगे हमारा बड़ा भारी अनुभव है इसका बोला जिसको जिसको मैंने वाद विवाद में हरा दिया जब सनातन धर्म आर्य समाज के शास्त्रार्थ होते थे ना तो हम तो हमको है ना ऐसा लगता है कि हम सनातन धर्म की सब बात ठीक ठीक समझते हैं ऐसा हमको लगता है माने सनातन धर्म की कौन सी बात किस अभिप्राय से कही गई है और किस युक्ति से कही गई है और उसका हमारे मनोविज्ञान के साथ अथवा भौतिक विज्ञान के साथ या तत्व विज्ञान के साथ उसका क्या मेल है हमको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ठीक ठीक समझते हैं बोला और तब भी लगता था अब भी लगता है हमारे तीस बरस पैंतीस बरस के अनुभव में उसमें कोई अंतर पड़ा हो ऐसा नहीं लगता तो जिस जिस को हम हरा दे देते थे ना तो उस समय तो हार के मान लेता बोले हम तुम्हारे तर्क के सामने पराजित हो गए जुक्ति के सामने पराजित हो गए लेकिन वो बाद में है ना या तो ये कहता कि ये बड़ा अभिमानी है है ना अपने को बड़ा पंडित मानता है है ना निंदक हो जाता या दुश्मन हो जाता बहस मुबाहिसे में हार के नीचा देख के हमारा कोई अनुजाई हो गया हो ऐसा हमारे जीवन में कभी अनुभव में नहीं आया तो आप जिससे अपनी मैत्री बनाया रख, बनाए रखना चाहते हैं जिसको अपने अनुकूल रखना चाहते हैं यदि पत्नी चाहती है कि पति हमारे अनुकूल हो गए है ना तो वाद विवाद में उसको हरावे नहीं हाँ पति अगर चाहता हो कि पत्नी हमारे अनुकूल रहे तो उसको बात बात में बेवकूफ सिद्ध न करे है ना उसकी समझदारी का आदर करे है ना आपस में मुस्करा के बोले एक दूसरे के सद्भाव का आदर करे तब संगति चलेगी दो मन हमेशा एक तरीके नहीं हो सकते कभी एक तरीके नहीं हो सकते यदि एक मन दूसरे मन की सह करके चलने को तैयार नहीं है तो संसार के व्यवहार में कभी सफलता नहीं मिल सकती बेटे की सहना पड़ेगा पत्नी की सहना पड़ेगा चेले की सहना पड़ेगा गुरु की सहना पड़ेगा बाप की सहना पड़ेगा हाँ। ये इसी को बोलते हैं धैर्य हो सह, सहिष्णुता धीरो मतवा धीरो न सोचती हाँ। धक्के इति धीरा जो अपने मन को धारण करे अपनी मुट्ठी में रखे उसका नाम धीर है धीर व्याकरण की रीति से भक्ते ही धीरा रक्त प्रत्यय हो गया हो कर्ता में कर्ता अर्थ में रक्त प्रत्यय हुआ तो धीर शब्द बना भक्ते ही जो पकड़ कर रखे अपने मन को ये नहीं कि मन में गाली आई बोले भाई अब मन में आ गई तो अब देख ही रहे रहेंगे हाँ, ऐसे नहीं है ना यदि बिल्कुल होश फरफराने लगे और मन न माने तो अकेले में जाके कमरा बंद करके और भीतर ही चुप चुप बुद बुदा के दे लो उस आदमी को मालूम न पड़ने पाओ कि तुमने गाली दी है और रो लो रो लो दुखी हो लो लेकिन जिसको तुम अपनी मुस्कान नहीं दोगे जिसको अपनी मिठास नहीं दोगे जिसकी अनुकूलता नहीं जिसको अपनी अनुकूलता नहीं दोगे उससे अनुकूलता पाने की आशा मत रखो जिसको तुम कहोगे वो तुमको स्वयं देगा बोला तो धीर शब्द का अर्थ है कि तुम हो ब्रह्म और और तुम्हारे अंदर ये प्रपंच कैसा है बोले रज्जू में अभ्यस्त सर्प की तरह माला की तरह डंडे की तरह भूछिद्र की तरह है ना ये नारायण ये प्रपंच है तो जैसे रस्सी कोई उसको साफ कहे तो भी सह लेती है और माला कहे तो भी सह लेती है माला कहने से अभिमान नहीं करती कि मैं माला सभी की सुंदर हूँ और सर्प कहने से विरोध करने नहीं जाती रज्जू जितनी सहिष्णु है उतने सहिष्णु ब्रह्म तुम हो तुम्हारे अंदर कोई गुण का अभ्यास करे कोई दोष का अभ्यास करे प्रपंच की उत्पत्ति हो या प्रपंच रहे या प्रपंच का प्रलय हो परंतु तुम कैसे वृक्ष स्थापित सिद्ध मानो न कुपियत न कंपेत उपल स्थापित सिद्ध मानो न कुपियत न कंपेत हाँ, ये जीवन मुक्त पुरुष की स्थिति का वर्णन है जीव तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मण बृहदारण्य उपनिषद में जहाँ धीर शब्द का प्रयोग हुआ ना तमेव धीरो विज्ञा प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मण धीर पुरुष जो दुनिया की समस्याओं को हल करने में लग जाएगा जो मिनिस्टर हो जाएगा उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा कुर्सी पर बैठने से है? ये बात कौन सोचेगा हो ये तो वही लोग सोचेंगे जो अपने वेदांत सभा के लिए मिनिस्टरों से कुछ मदद लेना चाहते हो है ना या वेदांत सभा के नाम पर मिनिस्टरों से जान पहचान करके है ना कोई स्वार्थ निकालना चाहते हो वही सोच सकता है कि कुर्सी पर बैठते ही मंत्री वेदांत ज्ञान संपन्न हो जाता है बोला कुर्सी के साथ वेदांत ज्ञान का क्या संबंध है तो आपको ये बताया कि दुनिया की समस्या को हल करने में परिच्छिन्न को पकड़ती है दृष्टि और आत्मा की समस्या हल करनी हो तो उधर से धीर कोई गाली दे तो उससे उलझो मत है ना कोई तारीफ करे तो उसके पीछे पीछे मत घूमो हमारे एक पंडित जी थे वृंदावन में तो वो लोटा लेके पानी लोटा में पानी लेके शौच होने के लिए जंगल को चलते तो कभी कभी हम लोग जानबूझ के ऐसा करते थे हो हाँ हाँ जाके उनकी ओर जरा प्रेम से देखा और मुस्कुरा दिया अब तो पंडित जी हाथ में लोटा लिए ही साथ हो गए लौट आए लौट आए और बैठ गए और घंटे भर बैठे रहे अब शौच जाते ही नहीं है क्यों नहीं जाते हैं है ना क्योंकि उनकी ओर मुस्कुरा कर देख लिया और मीठी बात कर ली हाँ। और यदि महाराज कभी वो आ जाए और उनके सामने अखबार खोल के बैठ जाए हैं पढ़ने लग जाए तो ऐसे चिड़ के जाए कि सिर्फ दस दिन नाम है अपने पास ऐसे संवेदनशील व्यक्ति होते हैं बोला इनका नाम संवेदनशील तो कहने का अभिप्राय ये है कि चलना पड़ेगा अगर परमात्मा के मार्ग में चलना है अपने आत्मा को जानना है तो सहिष्णु बनना पड़ेगा धीर आप गीता में पढ़ते हैं ना मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्या सांस्थितिक भारत यम ही न व्यथयंती पुरुषम पुरुषार्थ सम दुख सुखम सो सोमृतत्वाय कल्पते सम दुख सुखम सो सोमृतत्वाय कल्पते एक एक आदमी ने बुलाया था कि हमारे पास दस बजे आना हम तुमको दस हजार रूपया देंगे वो आदमी ट्रेन से उतरा है ना कुली से सामान उठवाया कुली ने कहा आप एक रुपया लेंगे उसने कहा कि नहीं दो आना तुमको मिलना चाहिए कानुसार दो आना मिलना चाहिए उसने कहा बाबू कायदा कुछ हो बोझा आपका ज्यादा है है ना हमको हो आठ आना दे दो अच्छा चार आना दे दो अब दो आने और चार आने में उलझ गए पहले गाली गलौज हुई फिर मारपीट हो गई हाँ। अब पुलिस ने पकड़ के बैठा लिया थाने में हाँ और दस बजे पहुंच के जहाँ दस हजार लेना था ना हाँ वहाँ नहीं पहुंच सके हो है ना दो आना तो बच गया उनका पुलिस ने दो ही आना दिलवाया और कुली को ही डाटा डपटा के तूने ज्यादा क्यों मारा मारा वो जीत गए वो बाबूजी जीत गए और कुली हार गया और दो आना पैसा उनका बच गया और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई कि हम न्याय के पक्ष में थे और दस हजार उनका चला गया तो जो दो आने में उलझ जाता है उसका पूरा रुपये ही जाता है बोला ये लाखों का करोड़ों का जीवन उसका नष्ट हो जाता है हाँ। तो तितिक्षा मृतोपनिषद है ना गीता में तितिक्षा मृतोपनिषद है तितिक्षा स्वभाव भारत और सो मृतत्वाय कल्पते चिकित्सा से अमृत की प्राप्ति होती है मत्वा धीरो न सोचते और दूसरी बात यह है मत्वा धीरा जो इस बात को जान लेता है कि ये जो हमारे पास पास पड़ोस की खबर पहुंचाने वाले लोग हैं पहले उनके बारे में जानना चाहिए बोला वो जिससे उनका राग होता है उसकी तो आके तारीफ करते हैं और जिससे उनका द्वेष होता है उनकी निंदा करते हैं ये नहीं समझना कि जो कोई आके हमारे कान में जो बात कह देता है वो बिल्कुल ज्यो का त्यों कह देता है बोला ज्यो की त्यों बात कह दे ऐसा कोई नहीं होता कुछ न कुछ नमक मिर्च तो सब लोग लगाते हैं क्योंकि सबके मन में संस्कार है सबके मन में वासना है है ना वस्तु का यथार्थ वर्णन देखे हुए का सुने हुए का कौन कर सकता है तो एक इतिहास के विद्वान थे वो इतिहास को बहुत प्रामाणिक मानते थे बहुत प्रामाणिक तो मैंने उनसे कहा कि भाई बात जो है वो मीमांसा की दृष्टि से देखी जाती है इतिहास की दृष्टि से नहीं देखी जाती तो मीमांसा की दृष्टि माने वस्तु में जो गुण दोष है उसका विचार किया जाता है ये कितनी पुरानी है या कितनी नई है है ना ये ऐतिहासिक दृष्टि वस्तु के निर्णय में प्रमाण नहीं होते तो, और शास्त्र पुराने शास्त्र में है ना जहाँ गाय का वर्णन है वहाँ गाय का वर्णन है और जहाँ घोड़े का वर्णन है वहाँ घोड़े का वर्णन है और जहाँ भैंस का वर्णन है वहाँ भैंस का वर्णन है तो वो भैंस की विद्या है महिष विद्या है अश्व विद्या है गो विद्या है तो सब विद्या है और जहाँ ब्रह्म का वर्णन है वहाँ ब्रह्म विद्या है आज का बालक ब्रह्म का वर्णन कर रहा हो तो ब्रह्म विद्या का वर्णन कर रहा है और अस्सी वर्ष का बुढ़ा अगर घोड़े का वर्णन कर रहा है तो अश्व विद्या का वर्णन कर रहा है पांच हजार पुराने घोड़े का वर्णन हो रहा है तो घोड़े का वर्णन है, ए? और आज परिपूर्ण ब्रह्म का वर्णन हो रहा है तो वो ब्रह्म का वर्णन है वस्तु किस वस्तु का वर्णन हो रहा है उसकी पकड़ होनी चाहिए हाँ, इसको मीमांसा बोलते हैं मीमांसा ऐतिहासिक दृष्टि और मीमांसक दृष्टि में फर्क होता है बोले एक ने कहा कि देखो ये तस्वीर पांच हजार बरस पुरानी बनी है एक ने कहा कि ये तस्वीर आज बनी है तो ये नहीं देखना कि पांच हजार बरस की आज पांच हजार बरस पुरानी को बालक ने बनाई है अनुभवी चित्रकार ने बनाई है कि कच्चे चित्रकार ने बनाई है, है? और आज के चित्र को कच्चे चित्रकार ने बनाया है कि पक्के चित्रकार ने बनाया है कच्चे चित्रकार के हाथ का बनाया हुआ आज का भी नया और पांच हजार पुराना भी नया है ना अपक्व अपरिपक्व चित्र है अपूर्ण चित्र है और परिपक्व चित्रकार के द्वारा बनाया हुआ पांच वर्ष पुराना पांच हजार वर्ष पुराना चित्र भी और आज का बनाया हुआ चित्र भी कब तो वो कला की दृष्टि से उस समय की कला की दृष्टि से वो पूर्ण है इस समय की कला की दृष्टि से ये पूर्ण है और बच्चे की बनाई हुई मूर्ति हो तो आज की हो तो भी और पहले की हो तब भी उसमें प्रामाणिकता कहाँ से आवेगी वस्तु को देखना पड़ता है किस वस्तु का वर्णन है तो मतवा तुमने ब्रह्म की अद्वितीयता को जाना कि नहीं जाना संपूर्ण देश संपूर्ण काल संपूर्ण वस्तु अपने स्वरूप में ही फुर रही है इस ब्रह्म को जाना कि नहीं जाना बोले पांच हजार बरस पुरानी किताब में घोड़े का वर्णन है तो घोड़ा सच्चा ब्रह्म झूठा है बोले ना ना वो घोड़े के जानकार के द्वारा वर्णन किया गया है ब्रह्म के जानकार के द्वारा नहीं वो ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है वो अश्व ज्ञान का विषय है वस्तु को देखना पड़ेगा आप देखो हमने उस ऐतिहासिक ज्ञान संपन्न पुरुष से पूछा कि अगर गांधी जी की जीवनी लिखनी हो गांधी जी को तो हमने देखा था है ना सेवा गांव में जाके देखा था है ना वर्धा गए वर्धा से ग्राम गए वहाँ जाके देखा तो हमने तो उनको काशी में देखा एक चर्चिल से उनकी जीवनी लिखवाई जाए और एक विनोबा जी से और एक गर्भात्री जी से और एक जवाहरलाल नेहरू से तो क्या गांधी जी की जीवनी एक तरीके लिखी जाएगी अपनी अपनी वासना का आरोप करके चर्चिल कहता है कि ये तो बिल्कुल कूटनीतिक पुरुष है है ना और विनोबा कहते हैं बिल्कुल संत महात्मा जीवन मुक्त पुरुष है, और कर्पात्री जी तो कहते हैं अधर्मी है अधार्मिक है अधार्मिक है जब अपनी दृष्टि को हम शुद्ध नहीं कर सकते तो किसी वस्तु का शुद्ध वर्णन भी नहीं कर सकते इसलिए दुनियादार लोग अपनी अपनी वासना से वासित अंतकरण के द्वारा जो दुनिया को देखते हैं और उसके बारे में आकर के वर्णन करते हैं उसको ज्यो की त्यों नहीं मान बैठना बोला अधिष्ठाना वजाहिनी दृष्टि से देखना कि सबसे के मूल में क्या है कर सबके मूल में तो न पाप है न पुण्य है न राग है न द्वेष है न सुख है न दुख है न हिंसा है न अहिंसा है तुम्हारी दृष्टि तत्वावगाहिनी है कि नहीं है तुम्हारी दृष्टि चूडाला हाँ, और उसके जार को देखती है, है? कि आत्मा को ब्रह्म अनुभव करके दोनों को केवल प्रतीति मात्र देखती है आप जो वाशिष्ट पढ़ते होंगे क्या नाम था उसके चूडाला के पति का याद हाँ, हाँ, हाँ, उनके सामने उसने माया फैलाई है ना वो जार के साथ हो गई जार के साथ हो गई अब देखना यह है कि सिखी ध्वज का ब्रह्म ज्ञान पक्का की कच्चा यदि उसकी ब्रह्म दृष्टि बनी रही तो ज्ञान पक्का और यदि ये पत्नी है हमारी और ये इसका जार है ये परिच्छि दृष्टि उसकी हो गई तो ज्ञान कच्चा आप जो वाशिष्ट पढ़ो ये संसार में कौन शत्रु कौन मित्र अरे भाई लोगों के कान है ना लोगों का मन शुद्ध नहीं लोगों की नजर शुद्ध नहीं है ना लोगों का अंतकरण ही पक्षपात से आक्रांत है वो यथार्थ वस्तु को तो देखेंगे कहाँ से तो जो धीर पुरुष है ना मतवा धीरो भगवती हाँ। जिसने ब्रह्म को जाना तो वो धीर हो गया हो धीर हो गया हाँ। धीयम ईरयती वो धीर हो गया धीरो जो न प्रचोदया धीर किसको कहते हैं अरे धियम ईरे से दियो योन प्रचोदयात वो हो गया वो तो बुद्धि का अंतर्यामी हो गया बुद्धि का साक्षी हो गया बुद्धि का लोगों की नजर शुद्ध नहीं है ना लोगों का अंतकरण ही पक्षपात से आक्रांत है वो यथार्थ वस्तु को देखेंगे कहाँ से तो जो धीर पुरुष है ना मत्वा धीरो भगवती जिसने ब्रह्म को जाना तो वो धीर हो गया हो धीर हो गया धीयम ईरयती वो धीर हो गया धीरो जो न प्रचोदया धीर किसको कहते हैं अरे धीयम ईरयती धीयो यो न प्रचोदया वो हो गया वो तो बुद्धि का अंतर्यामी हो गया बुद्धि का साक्षी हो गया बुद्धि का अधिष्ठान हो गया न सोचती उसके लिए हाय हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ हाय हाय ऐसा क्यों हो गया कुछ होने के बाद रोते हैं और कुछ न होने से रोते हैं रोने के दो ही तो कारण है ना सोचती शोक का क्या कारण है का ऐसा नहीं हुआ इसलिए रो रहे वर्षा नहीं हुई इसके लिए माली रो रहा है और वर्षा हो गई इसके लिए कुम्हार हो रहा बचपन में हम लोगों ने जो किताब पढ़ी थी ना बचपन में उसमें ऐसे लिखा था हाँ, कि एक आदमी के दो लड़की थी एक के है ना वो दोनों लड़कियों का ब्याह एक का घर एक का ब्याह जिसके साथ हुआ वो माली का धंधा करता था दूसरी का ब्याह जिसके साथ हुआ वो कुम्हार का धंधा करता था माली बेचारा एक दिन वो आदमी जिसकी लड़की थी हाँ, दोनों के घर मिलने गया तो कुम्हार की एक घर में जो ब्याही थी वो रोने लगी कि पिताजी है ना बादल छा रहे हैं आसमान में कहीं वर्षा हो गई तो हमारे बने बनाए सब बर्तन मिट्टी में मिल जाएंगे सारा परिश्रम नष्ट हो जाएगा ईश्वर से प्रार्थना करो कि वर्षा न होए अब वो अपने माली वाले लड़की के घर में गया लड़की ने कहा कि पिताजी पौधे सब लगाए गए हैं आज अगर ये बादल थोड़े से बरस जाए है ना सब पौधे जी जाएंगे नहीं तो हमारी जी कहीं चली जाएगी अब जिन जिसकी दोनों लड़की हैं वो कुम्हारिन के साथ है ना कुम्हारिन के साथ रोवे कि मालिन के साथ रोवे किसके साथ रोवे तो जिसमें सारा प्रपंच अभ्यस्त है वो है ना हिंदू मुसलमान पारसी सिख जैन ईसाई यहूद सब के सीने में धड़कता एकता है दिल मरा मेरा जन्म में भी वही मृत्यु में भी वही बचपन में भी वही बुढ़ापा में भी वही संजोग में भी वही वियोग में भी वही शोक किसके लिए आने में भी वही जाने में भी वही प्रतीति में भी वही अप्रतीति में भी वही जागृत में भी वही स्वप्न सुषुप्ति में भी वही न सोचती शोक किसके लिए मत्वाधीरो हर्ष शोक भी दूसरी श्रुति कहती है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वो हर्ष और शोक दोनों से मुक्त हो गया तत्र कौन हुआ काशोकह एकत्व कहा जिसने एकत्व का साक्षात्कार किया उसके लिए शोक और मोह कहा इसलिए आओ इस आत्मज्ञान के संबंध में जिसकी प्राप्ति हो जाने पर शोक और मोह बिल्कुल नहीं होते उस आत्मा को आओ ढूंढ निकाले ढूंढने वाले का नाम ही साक्षी है और ढूंढने वाले का नाम ही ब्रह्म है और ढूंढने वाला अपने आप को ही ढूंढ रहा है आप अमृत आप अमृत घट आप पीवन हारी आप ढूंढे आप ढूंढावे आप ढूंढन हारी तो संतो आओ उस आत्मा पर है ना जो पर्दे मालूम पड़ते हैं उनकी जांच करके देखें कि असल में है कि नहीं है कोई पर्दे नहीं है वो बिना पर्दे के ही पर्दे मालूम पड़ रहे हैं ओ रे दक्षिणा